कभी सच्चा सुख कभी सत्य का साक्षात्कार नहीं हो सकता बिल्कुल अलग चीज तो अपने मन को ज्ञान के अनुसार बल्कि तमाम दर्शन तो का ऐसा विचार था कि यदि मनुष्य को ज्ञान ठीक ठीक हो जाए तो आसक्ति के गलत रास्ते में नहीं जा सकती इसका उसने दृष्टांत किया सुकरात ने बहुत भारी महत्व दृष्टांत कि एक आदमी के सामने बढ़िया भोजन बना के बर्फ दिया गया उसकी जीप पर पानी दिया गया उसकी नाक में सुगंध भी गई आंख देख के खुश हो गई और वो समझता है वहां स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया है इतने में एक बच्चा दौड़ता हुआ आया और उसने कहा कि पिताजी भोजन मत कीजिए जिसमें जहर लगा हुआ पिताजी का बात तो रूप क्या करें जीप कह रही है भोजन करो नाक कह रही है बहुत सुगंध है आंख कह रही है देखने में बहुत बढ़िया है और पहले सोचा था इससे हम स्वस्थ होंगे लेकिन एक बच्चे ने आके आपको ये जानकारी दी इस भोजन में विष है और ये जानकारी मिलती आपका हाथ छूट गया तो जहां ज्ञान के विरुद्ध हम आचरण करते हैं वहां हमारा ज्ञान कच्चा उस ज्ञान में कुछ न कुछ कच्चापन है यदि हमारा ज्ञान सच्चा होता तो हम ज्ञान के विपरीत आचरण नहीं करते अब हमारी बुद्धि के कुछ बाधक साधक हैं बुद्धि में विघ्न डालने वाले और हमारी बुद्धि को नाश की ओर ले जा रहा है और कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारी बुद्धि के लिए स्वागत हैं और उत्तम दिशा में ले जाती हैं डामाडोल नहीं होने देती देखो बाधक क्या आठ बातों से ऐसा विघ्न आता है जीवन में कि बुद्धि ठीक ठीक काम नहीं कर पाती जायतो संगस्ते संगस्तेषु जायते संगापन जायते कामा काम क्रोधो विजायते क्रोधा भवती सम्मोह सम्मोहा स्मृति विद्रोह स्मृतिध्वंसात् बुद्धिना बुद्धिनाशात प्रणश्यति ये आठ कामें हैं जो हमारी बुद्धि को भ्रष्ट तो करती ही है हमारा भी सत्यानाश कर देती है तो आठ बातें क्या हैं कि हम जान बूझ करके विषय भोगों का चिंतन करते हैं जिसका ध्यान करेंगे वो चीज हमारे पास आवेगी या हम उसके पास पहुंच जाएंगे न्याय जाए तो, तो विषय संघर्ष जाए सर्वम ध्यानी का मेवास धनी के पास धन कब आएगा जब धन का ध्यान करो हमारे मुंबई में सवेरे फोन उठता है महाराज ये ध्यान ये उनकी धारणा मन में होती है वो मन की धारणा करते हैं मन का ध्यान करते हैं मन उनके पास जाता है जब जान बूझ करके हम संसार के भोगों का ध्यान करते हैं और उनकी धारणा करते हैं तो या तो हम खींच के उनके पास पहुंच जाएंगे जहां धन होगा और या तो धन ही खींच के हमारे पास आ जाएगा वो तो बलवत्ता की बात है धन बली होगा तो आपको खींच लेगा आप बली होंगे तो धन को खींच लेंगे और जब संग प्राप्त होता है तब ये होती है कामना कि ये हमारा हो जाए उसके भोग की कामना और यदि कामना पूरी हो तो और और कामना होती है उसका नाम लोभ है और वो कामना के अंतर्गत है परंतु यदि विघ्न पड़ जाए तो, तो क्रोध आता है और जब क्रोध आता है तब तो अपना कर्तव्य भूल जाते हैं और जब कर्तव्य भूल जाते हैं तो इस समय हमको क्या करना क्या नहीं करना याद ही नहीं जब याद नहीं रहती है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है अपनी जगह से च्युत हो जाती है जहां बुद्धि को रहनी चाहिए वहां नहीं रहती है और जब बुद्धि का नाश हो जाता है तब मनुष्य का स्वयं का जहां बुद्धि नहीं है बुद्धि की उपाधि से ही मनुष्य मनुष्य हो अपने को ये और प्राणियों से श्रेष्ठ इसी से कह सकता है कि ये बुद्धिमान कितना बढ़िया हाथ मिला पाँव मिला दुनिया में किसी प्राणी को नहीं है ऐसा हाथ कितनी बढ़िया उंगलिया इतना बढ़िया हो इससे पूजन कर लो चाहे इससे चित्र बना लो चाहे इससे माला पेड़ लो जहां से चाहो वहां से मोड़ लो तोड़ लो पकड़ लो छोड़ दो कितना बढ़िया आप दुनिया में और किसी को नहीं मिलेंगे और ऐसी बुद्धि आपको मालूम है अब से दस हजार वर्ष पहले पांच हजार वर्ष पहले चीफ कौवे जैसे रहते थे वैसे ही आज भी रहते हैं वो अपना घोषणा जैसा बना सकते वैसा बनाते हैं जैसा भोजन करते तो ऐसा करते हैं न उनके यहाँ कपड़े की मशीन लग पाई न रेलगाड़ी बनी न मोटर बनी न हवाई जहाज बना न कोई नया आविष्कार हुआ वो तो पुराने दीप पर चलते हैं और मनुष्य नया नया आविष्कार करता है नवीन नवीन वस्तुओं के आविष्कार की प्रतिभा है और नजारे अभी क्या क्या हरा आविष्कार होंगे संभावना ऐसी है कि आप यदि ऊपर की ठीक न हो पाते हो तो शरीर में कहीं दूसरी जगह भी आंख बना दी जाए ऐसी संभावना है क्योंकि नेत्र इंद्रिय व्यापक इंद्रिय शरीर में जहां कहीं वो जो भी जगह दी जा सकेगी विज्ञान के प्रभाव से कान कहीं भी बनाया जा सकेगा सांस लेने के लिए नाक कहीं भी बनाई जा सकेगी भोजन को तो अभी ग्लूकोज डॉक्टर लोग भेज देते हैं ना नसों से तो बिल्कुल विज्ञान के द्वारा ऐसा आविष्कार होगा कि एक स्थायी क्षेत्र बना दिया जाएगा उसमें भोजन डालो और वो बिल्कुल पचता हुआ चला जाएगा विज्ञान में संभावना क्या नहीं है और ये कौन करेगा ये आविष्कार कैसे होगा और अभी तो चंद्रमा पर जाते हैं शुक्र पर मंगल पर जाने की तैयारी कर रहे हैं मिनटों में संसार के संहार की वृद्धि कर ली है ये मनुष्य की बुद्धि साधारण बुद्धि नहीं है ये बुद्धि मनुष्य की अपनी खास पूंजी है और मजाक ये जो आपके होठों का मुस्कान है ये जो आंखों में प्यार है सत्ता का उद्रेक कर्म की शक्ति है और चित्त का उद्रेक बुद्धि की शक्ति है और आनंद का उद्रेक ये आप जो हंसते हैं आपने प्राणी देख देखा होगा फूल खिला के जो पीछे पीछे घूमता घूमता है पर कभी कथा के हंसता है ये हास्य का उत्तम भट्ट ये ये परिहास ये ये विहसन कभी ये प्रहसन ये विहसन ये अट्टहास ये हास ये स्मित ये मंदिर स्मित ये आनंद का इस ढंग से उल्लास का संसार में किसी प्राणी के अंदर होता है तो जब हम बुद्धि खो बैठते हैं तो हमारे कर्म भी बिगड़ जाते हैं और हमारे आनंद में भी बाधा होते बुद्धि की उपाधि से ही हमारे कर्म अच्छे संपन्न होते हैं और बुद्धि की उपाधि से ही हमारे आनंद का उद्रेक होता है जब हम ज्ञान खो बैठेंगे तो किससे करेंगे प्रेम तब तो गधे और गाय के प्रेम का विवेक ही नहीं होगा तब तो सत्पुरुष और विषया के प्रेम का विवेक ही नहीं होगा जब बुद्धि खो बैठेंगे तब और फिर सूरी में और दान में फर्क ही नहीं हो सकेगा अगर बुद्धि खो बैठेंगे तो इसलिए बुद्धि नाशात प्रणश्यति यदि बुद्धि का नाश हो गया ये दीपके <clears throat> आप ध्यान देंगे ये सब पता चलेगा ये दुनिया के सब मजहबों से विलक्षण बात <clears throat> कौन मजहब है दुनिया में जो मनुष्य की बुद्धि का इतना आदर करता है वो कहते हैं देखो <clears throat> हमारे मजहब के अनुसार चलो समझ में आवे कि ना आवे नहीं तो तुम काफिल हो तो और गीता गीता कहती है कि नहीं बाबा बुद्धि मत <coughs> बुद्धौ शर्म मनविच्छर ये दुनिया के किसी भी मजहबी किताब में ये लिखा हुआ नहीं मिल सकता कि बुद्धौ शर्म बंधित है बुद्धि की शरण हो उसने तो बताया कि यदि तुम बुद्धि की शरण लोगे गीता गीता का कहना बुद्धि की शरण लोगे तुम पाप और पुण्य दोनों से मुक्त हो जाओगे पाप भी बांधता है पुण्य भी बांधता है पाप नरक की ओर ले जाता है पुण्य स्वर्ग की ओर ले जाता है ये बांध के ले जाते हैं बुद्ध युग को तो जहाती है उभे सुकृत होते इसी जीवन में तुम पाप और पुण्य से छूट जाओ कर्मजम बुद्धि चुकता ही फलम त्यक्वा मनुष्य ना यदि आपको बुद्धि प्राप्त हो जाए सच्ची तो आप सुख दुख से मुक्त हो सकते हो यदि आपको स्थिर बुद्धि की प्राप्ति हो जाए तो यही समाधि लग जाएगी यदि आपको स्थिर बुद्धि की प्राप्ति हो जाए तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए संसार के किसी भी मजहब में बुद्धि को महत्व नहीं दिया गया है इतना जितना गीता महत्व देते अब गीता का कहना यह है कि भाई यदि बुद्धि का नाश होगा तब तो तुम्हारा भी नाश हो जाएगा बुद्धि नाशात तो लेकिन एक बात यदि तुम्हारी बुद्धि मेरे साथ जुड़ जाए तो गीता में दो बात है बुद्धिनाशास्त्र और कौनते प्रतिजारी ही न भक्त प्रणश्यति श्रेया तुम सुनो कहा क्या कह रहे हो प्रभु तो मैं ये कह रहा हूं कि तुम एक प्रतिज्ञा करो प्रतिजानी ही प्रतिज्ञा नहीं माने या स्व तुम प्रतिज्ञा करो बोले हमसे क्यों करवाते हो तुम ही कर लो ना बोले कि बाबा प्रतिज्ञा मैं करूंगा आज तुम्हारे सामने और परसों परसों में अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने वाला हूं जब भीष्म पितामह कहेंगे युद्ध करेंगे और तुम्हारे ऊपर संकोच प्रहार करेंगे तो मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ के भी तुम्हारी रक्षा के लिए चक्र उठाऊंगा पटती वापटती कारण कर हर चक्र चरण कौथावन नहीं बिखरती वहां द्वापटती हाँ। जब इसको कहेंगे आज जो हरि न शस्त्र कमाऊं तो राजो गंगा जननी को संतन सुतन कमाऊं जब इसलिए प्रतिज्ञा करेंगे तो उनकी प्रतिज्ञा को तो अटल होगी और मेरी प्रतिज्ञा छूट जाएगी तो आज यदि मैं तुमसे कोई प्रतिज्ञा करूं तो परसों परसों लोग कहने लगेंगे ये तो प्रतिज्ञा के पक्के नहीं है दूसरे हैं वो प्रतिज्ञा तो करते तो छोड़ देते तब तो उसको प्रतिज्ञा करो क्या प्रतिज्ञा करो महाराज तुम अपने मुंह से बोलो न मत भटका प्रश्यति बुद्धिनाशात प्रश्यति न मत भटका प्रश्यति जो मेरा भ्रष्ट होगा उसका नाश कभी नहीं होगा ये भगवान की प्रतिज्ञा है ये भक्त की प्रतिज्ञा है भगवान अपनी बात काट सकते हैं परंतु भक्त की बात कभी नहीं काटते हैं भगवान अपने अपराध को क्षमा कर देते हैं परंतु भक्त के अपराध को कभी क्षमा नहीं करते जो अपराध भगत कर करे राम रोग पावन से भगवान अपने अपराध का अपने अपराध को क्षमा करते हैं भक्त के अपराध को क्षमा नहीं करते भक्त की जिम्मेवारी है कि जो भगवान की का भक्त होगा अब देखो एक तो अब यहां बुद्धि बुद्धि रहेगी तो तुम्हारा नाश नहीं होगा बुद्धि का नाश होगा तब तुम्हारा नाश होगा तुम्हें नाश से बचाने वाली वस्तु कौन तो बुद्धि और नाश से बचाने वाली दूसरी वस्तु कौन भक्ति नमद्रता बनस्पति भक्ति भी नाश से बचाती है और बुद्धि भी नाश से बचाती है एक बात आप ध्यान में ले लो नोट करो जब आपका ईश्वर से मतभेद होता है ईश्वर चाहता है कुछ और और तुम चाहते हो कुछ और तो जब ईश्वर की राय में तुम्हारी राय मिल गई बोल दिया बोल जो तुम्हारी राय तुम्हारी राय हे प्रभु जो तुम्हारी इच्छा है वो पूरी हो आपको दुख नहीं यदि आपकी राय ईश्वर की राय से मिली होगी आपकी मति ईश्वर की मति से मिली होगी आपका ईश्वर के साथ मतभेद नहीं होगा तो आपको दुख कभी भी नहीं सकता दुख तभी होता है मनुष्य को जब हम ईश्वर के साथ मतभेद करते हैं और ईश्वर के साथ मतभेद क्या है ये समग्र विश्व विराट प्रभु का रूप है और इसमें ईश्वर की बुद्धि का अंत है जब तुम्हारी बुद्धि सबकी भलाई के लिए सबके हित के लिए किसी को दुख न पहुंचे यदि इस दृष्टि से काम करेंगे तो आपकी बुद्धि ईश्वर से मिलेगी विभीषण की शरणागति में यही है सुख स्वार्थ परिहरी करिहऊ सोई जय साहिब स्वामी मैं अपना सुख छोड़ के अपना स्वाद छोड़कर वो काम करूंगा वो काम करूंगा जिससे मैं अपने साहब को अपने मालिक को राम को अच्छा करूंगा तो जब ईश्वर की मति से अपनी मति मिली है अपनी मति में अहंकार नहीं है अपनी मति में भगवान से भेद नहीं है अपनी मत का जो फल है ना वो कुछ भगव इच्छा के विपरीत नहीं है भगवान का दिया हुआ फल भगवान का दिया हुआ है बुद्धि भगवान की दी हुई है ये अहंकार भगवान का नियम है अब भक्ति और ज्ञान का मन और बुद्धि का मन और बुद्धि का समन्वय हो जाएगा वो समन्वय होना माने ज्ञान के पीछे ज्ञान स्वरूप भगवान है ज्ञान को साक्षात भगवान है और भक्ति ज्ञान की अनुसारिणी वृत्ति है ज्ञानानुसारिणी वृत्ति कश्मीरी शैवों ने प्रश्न उठाया है भक्ति क्या आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है आत्मा ज्ञान स्वरूप ये भक्ति क्या है उन्होंने इसका उत्तर दिया है रखते हुए ज्ञान का उल्लसित ज्ञान का उल्लसित ज्ञान का नाम भक्ति है जब हमारा ज्ञान लहराता है जब हमारा ज्ञान थिरकता है जब हमारा ज्ञान नाचता है जब हमारा ज्ञान रस से परिप्लोक रस से भरा हुआ होता है रस भरे ज्ञान का नाम रखते हैं ज्ञान और प्रीति जानकारी और प्रेम जहां दोनों एक हो जाते हैं वहां ज्ञान में भक्ति मिल गई और भक्ति में ज्ञान मिल गया और दोनों दोनों एक हो गए ज्ञान भक्ति का समन्वय हो गया ये आपको ये जो सविषय ज्ञान है ना सविशेष ज्ञान उसके साथ भक्ति का समन्वय आपको सुना क्योंकि पहले मैंने सुना दिया कि वेदांतियों के समन्वय का खंड दूसरा है वो परमार्थ के बोध के लिए है और ये जो ज्ञान और भक्ति का समन्वय है ये हमारी व्यावहारिक सिद्धि के लिए है व्यवहार में मन और ज्ञान यदि अलग अलग होंगे तो आपके आप गलत बेहतर पड़ेगा बिल्कुल जानकारी कुछ और है और चाहते कुछ और हैं करते कुछ और हैं तो जो काम विचार से सिद्ध नहीं है विचार से शुद्ध नहीं है विचार से सिद्ध नहीं है और विचार से शुद्ध नहीं है यदि वो काम हम करेंगे और वैसे संकल्प करेंगे तो संकल्प और विचार दोनों आपस में लड़ जाते हैं और जब लड़ जाते हैं तो उनके संघर्ष से मन पर इतना बोझ पड़ता है कि वो बेचारा उसको आत्मसात करने के लिए जल्दी जल्दी करने लगता है जल्दी जल्दी एक डॉक्टर उनको बता रहे थे ये जब सर्दी लगने लगती है ना शरीर में सर्दी लगती है ठंड तो शरीर कांपने लगता है बहुत कम लगता है जानते हैं दांत चलाने लगते हैं शरीर कांपने लगता है तो उन्होंने हमको बताया आप जानते हैं ये शरीर क्यों कांपने लगता है शरीर ठंड बढ़ने पर का मैं तो नहीं जानता हूं तो उन्होंने बताया कि उस ठंड को दूर करने के लिए गर्मी पैदा करने को शरीर इतनी जोर से कांपने लगता है कि उस हिलने से एक प्रकार की गर्मी पैदा हो और वो सर्दी मिट जाती तो आपके मन में भी जो ज्ञान और विचार जब दोनों लड़ने लगते हैं है? तो वो कहीं खुराक के बिना तुम कोई न मार डाले संजय को न मार है उनको बहुत सारी खुराक पहुंचाने के लिए जल्दी जल्दी वो रक्त पहुंचाते हैं <clears throat> कि आपस में जो लड़ते हैं कहीं मध्यस्थ को न मार रहा तो दो आदमी लड़ रहे हो और बीच में कोई जाए एक तलवार उसको लग जाए एक गोली लग जाए एक गंदा लग जाए तो ये जल्दी जल्दी शक्ति पहुंचाता है क्या और भक्ति नारायण एक बात आपको छोटी सी सुना आपकी सुनी हुई भी होनी चाहिए ये आत्मा या परमात्मा इसको बोलते हैं सत्य गीता में भी सत्य का प्रयोग अमृतन जैव उत्कृष्ट सदस्य आत्मा सतो विद्यते भाव नाभाव विद्यते सता सब शब्द का सदसत क्या सदसत तब परंजन न तब न सब संजात उज्जत है सब शब्द का बहुत प्रयोग तो ये आत्मा परमात्मा सब सत मन अस्थि है है और बनना चाहता है तो आपका धर्म क्या हुआ सबके रहने में आप मदद की स्वयं भी अपने जीवन को बनाए रखिए जैसे स्वस्थ रहे दीर्घायु रहे ऐसा काम अपने जीवन के लिए कीजिए और दूसरा का जीवन भी दूसरे का जीवन भी स्वस्थ रहे और दीर्घायु हो ऐसा काम कीजिए और न तो स्वयं आत्महत्या का संकल्प कीजिए मरने का काम मत कीजिए और न दूसरे को आ, मरने दीजिए अपनी ओर से प्रयत्न कीजिए कि वो मरे न पाए इस सद्भाव में से चार घर निकलते हैं जीते रहिए जिलाइए और मरने की कल्पना मत कीजिए और दूसरे के मरने में हेतु मत बनिए यदि आप सब हैं तो ये चार बात आपके जीवन में रहनी चाहिए और जीवन के लिए जो भी आवश्यक है अन्न चाहिए भोजन को वस्त्र चाहिए पहनने को मकान चाहिए रहने को और पानी चाहिए पीने को और दवा चाहिए स्वस्थ रहने को उसकी तो व्यवस्था कीजिए अपने लिए भी कीजिए दूसरों के लिए भी कीजिए एक चित भाव है उसका अर्थ है ज्ञान आपके जीवन में ज्ञान है इसमें से धर्म निकलता है हमारा धर्म अवैज्ञानिक नहीं है इसका धर्म का एक दार्शनिक पक्ष है तो आप स्वयं जानकार रहिए अपनी मूर्खता बिठाइए और दूसरों को मूर्ख मत बनाइए उनको है ना अपना ज्ञान बढ़ाइए और दूसरों का ज्ञान बढ़ाइए इसके लिए पाठशाला होनी चाहिए इसके लिए सत्संग होने चाहिए प्रवचन होने चाहिए पत्र पत्रिका होनी चाहिए व्याख्यान होने होना चाहिए अपना ज्ञान बढ़े और दूसरों का ज्ञान भी बढ़े ये धर्म है और दूसरों को बेवकूफ मत बनाइए और स्वयं बेवकूफ मत बनिए मूर्खता से बचिए और बचाइए और ज्ञान में स्वयं बढ़िए और औरों को बढ़ाइए ये चेतन में से ये चार धर्म ये चार धर्म निकलता है आनंद में से भी चार धर्म निकलता है आप सुखी रहिए और औरों को सुखी कीजिए और सुख के लिए दो सामग्री अपेक्षित है उसका वो लौकिक संपदा भी चाहिए अर्थ चाहिए उसके लिए काम चाहिए उसके लिए भोग चाहिए उसके लिए ये तीनों पुरुषार्थ जीवन में काम आते हैं और नाचना भी आना चाहिए वो नाच लिए कोई नहीं हो अपने आप में नाच लिए और लोगों में नाच लिए नृत्य हर लगे फिटकरी अपने शरीर को उंगली को ऐसे करने में है और ऐसे करने में मजा ले लिया आंख को मटकाने में है ना को हिलाने में मजा ले लिया लगे ना पिक्चरी नृत्य का आनंद संगीत का आनंद है ना बिल, बिल्कुल आवाज हाँ, आवाज को कभी पंचम में कर दिया है और कभी हाँ, दूसरे स्वर में कर दिया कभी जीवन हो गया कभी गांधार हो गया कभी पंचम हो गया अपने स्वर को बदलकर आनंद लीजिए और दीजिए इसमें हरा लगे ना फिर करी इसको संगीत बोलते हैं तो नृत्य है गीत है नृत्य है संगीत है वाद्य है हाँ, बजा लीजिए बांसुरी तबला बजा लीजिए सारंगी बजा लीजिए सितार बजा लीजिए बीणा बजा लीजिए और वो किन्न किन्न किया वो आनंद आता है आनंद की वस्तु भी चाहिए तो आनंद लीजिए अभिनय कीजिए हाँ, अभिनय तो पार्टी कर रहे हैं अच्छा पार्क होगा तो आपको बड़ा मजा मिलेगा दूसरे को भी मजा आएगा है ना तो नृत्य संगीत वाद्य अभिनय हाँ। ये सब आनंद के हेतु हैं तो आप स्वयं दुखी मत होइए दूसरे को दुखी मत कीजिए और स्वयं सुखी रहिए और दूसरों को सुखी कीजिए ये आनंद में से ये चार कर्म निकल रहे हैं नारायण एक बात और है ये सब चित्त आनंद ये तीन नहीं है एक ही है अद्वैत उसमें से धर्म निकलता है धर्म निकलता है मिलकर रखिए और मिलाकर रखिए ये अद्वैत धर्म है वो आप किसी से छूट जाएंगे तो आजकल तो कल भी है ना न जाति का मेल है न मजहब का मेल है न राष्ट्र का मेल है न प्रांत का मेल है न पार्टी का मेल है दल बदलुओं का समाज है साफ किस तरह में सब किस तरह में तो मिलकर रहिए और मिलाकर रखिए ये धर्म है और कूटिए मत और फोड़िए मत स्वयं कूटिए मत और दूसरे को फोड़िए मत ये जो है ये सच्चिदानंद अद्वैत जिसको तत्व बोलते हैं दार्शनिक दृष्टि से वेदांत की दृष्टि से शास्त्र पुराण की दृष्टि से जिसको तत्व बोलते हैं उसके भीतर से हमारे जीवन के लिए हमारे जीवन के लिए धर्म निकलता है तो पहली बात यह है कि आप मन और बुद्धि को बुद्धि में मन को मिलाकर रखें जितनी भी प्रेरणा मन को बुद्धि में मिलाकर रखती है जितनी भी प्रेरणा आपके जीवन में आवे वो तो आपकी बुद्धि शुद्ध है कि नहीं ये देखिए बुद्धि को शुद्ध रखने के लिए गीता का ख्याल है कि छह बातें हमारे जीवन में रहनी चाहिए छह होंगे नहीं आठ हैं बुद्धि के नाशक और छह हैं बुद्धि के बर्तक तो बुद्धि बढ़ाने वाली क्या चीज है घबराइए मत आत्मन एवात्मना उसका आप जो भी काम कीजिए चाहे व्यापार कीजिए धन कमाइए चाहे भोग कीजिए चाहे धर्म कीजिए चाहे श्रवण मनन विद्यासन मोक्ष की प्राप्ति के लिए कीजिए लेकिन आप जब तृप्त होकर के अपना काम करेंगे तृप्त रहकर काम करेंगे भूखा आदमी महाराज और चाहे कि अमेरिका ही एक गप्पा ऐसा लगा रहे हैं हाँ, मुंह में डाले कि पेट भर जाए और सड़क जाने का डर है गिर जाने का डर है आप में आंसू है शांति से भोजन करो सदैव मुक्ति सदैव सुक्ति हाँ, ऐसे पंच सनई सदैव सदैव पंथा सनई पंथा सनई कंथा सनई पर्वतरोहणम सदैव दुखते सदैव सुखते ये नहीं खाट करके गए थम से गिरे और खाट कमजोर हो तो टूट जाए इसका मतलब है कि कहीं पिट के आए हैं कहीं अगर पिटे नहीं होते तो खाट पर थम से कैसे करें चल रहे हैं महाराज ऐसे फटाफटा चल रहे हैं कि पाँव फिसल जाए तो ये जो कृष्णा कृष्णा का जीवन है चिंता का जीवन है घबराहट का जीवन है कि आप घबरा के कोई व्यापार करेंगे अरे घाटा लग गया अब ऐसे काम में आप हाथ डाल देंगे जहां से हाथ खींचना मुश्किल हो जाए घबराहट में तृप्त है काम करना चाहिए प्रजा की जला काम सर्वान पार मनोगता काम के वश में न हो और आत्मतुष्ट हो तब आपकी बुद्धि स्थिर होगी और अच्छा काम करेगी तो छह बात ऐसी हैं जिनसे मनुष्य की बुद्धि डामाडोल नहीं होती तब हमारे जितने संकल्प हैं वो बुद्धि में से निकलते हैं और बुद्धि में से जो संकल्प निकलते हैं वो हमारे जीवन के लिए कल्याणकारी होते हैं और बाकी जो बातें हैं वो कल्पना होती हैं को को सभी प्रकार भक्ति को हम प्रकट करते हैं कोई कहेगा कि हम ईश्वर के पुत्र हैं ये विश्वास कर श्रोता कर कोई कहेगा हम ईश्वर का संदेश लेके आए हैं मेरे ऊपर विश्वास कोई कहेगा ये मूर्ति ईश्वर की दी हुई है ईश्वर विश्वास और यदि उनके ईश्वर का पुत्र होने का या पैगंबर होने का या वो कोटि ईश्वर की दी हुई है जिस पर कोई श्रद्धा न करे तो उनके मजहब में उसके लिए कोई स्थान नहीं होगा मैं तुम्हें बुद्धि देता हूं ईशाते विहिता शांति बुद्धि योगे श्रीमान शरणम शांति बुद्धि भी बुद्धि है योग बुद्धि भी बुद्धि है अर्जुन ने एक बार आक्षेप भी किया कृष्ण पर बुद्धिम मोहे है की बने तुम क्या मेरी बुद्धि को हिप्नोटाइज कर रहे हो मसोहित कर रहे हो बुद्धि हो रहे जीवों में हमको तो निश्चय करिए हमारी बुद्धि को सम्मोहन नहीं करिए सम्मोहित नहीं करना बुद्धिया युक्त दया पार्थक कर्मबंधन प्रहार से तुम्हें बुद्धि ठीक ठीक मिल जाए तुम तो कर्म बंधन टूट जाए मैं अर्पित मनोबुद्धि बुद्धि भगवान ने मन बुद्धि को अर्पित कर दो तुम्हारा काम बन जाए बुद्धिया विशुद्ध उसको धृत्य आत्मान नियम में तो बुद्धि से ही ज्ञान योग की सिद्धि होती है अब बुद्धि कैसी चाहिए जिससे हमें व्यवहार में सफलता मिले परमार्थ में स्थिति हो भगवान ने बुद्धि को भी दो तरह का करते एक तरह की बुद्धि की निंदा की हो व्यवसायात्मिका बुद्धि एक गुरुनंदन बहुशाखा ज्ञानशास्त्र दुष्प्रयोग व्यवसाय न एक निश्चयात्मक बुद्धि होती है और एक अनिश्चयात्मक बुद्धि होती है अनिश्चयात्मक मान संशयात्मक जो दृढ़ निश्चय वाली बुद्धि है वो बुद्धि सर्वत्र सफलता देती है दृढ़ निश्चया बुद्धि में जो निश्चय हो वो दृढ़ फिर सफलता जीवन में किसको प्राप्त होती है युवा आशिष्ट हो दृढ़ उत्साह हो मन में और आशा हो सफलता की और अपने निश्चय पर अटल हो दृढ़ बिना दृढ़ बुद्धि हुए कोई सफलता जीवन नहीं तो ये दृढ़ता कहां से आवे उसके लिए भगवान ने छह बात बताई बुद्धि में चाहिए एकाग्रता गीत को सोचें उसको जितनी वो मालूम पड़ रही है वहां से लेकर ब्रह्म पर्यंत उसकी अवगति होनी चाहिए एक जो तीर्ण दीप रहा है ये परमात्मा पर्यंत कैसे उसकी गति है ऐसी पैनी बुद्धि है दक्षिण में क्या देख रहे हो और इसकी एक सकल सूरत आकार आंखों से दिख रहा है और उसका एक नाम रखा हुआ है वो तो मिट्टी के सिवाय और कुछ नहीं है तृण देखने पर उसका मिट्टी बना भी मालूम होना चाहिए और मिट्टी पानी आग हवा आकाश मन प्रकृति परमात्मा सब कुछ तृण एक दिख रहा है आंखों से तृण और उसमें भरपूर है परमात्मा तो बुद्धि जब किसी वस्तु को पूरे रूप में देखती है तो उसमें कहीं गलती हो जाती है उसकी पूर्णता पर्यंत हमारी बुद्धि देखते हैं तो ये देखना कैसे होगा जब पूरी एकाग्र होगी तो एकाग्रता के दो अंश होते हैं एक तो अनेक वस्तुओं की ओर से बुद्धि हटकर अपने लक्ष्य में स्थिर और दूसरे दुखी दुखी दुखी बुद्धि न हो सिर्फ उस स्थित प्रज्ञता के लिए भगवान ने पहले श्लोक में दो बात कही एक सज्जन थे वो कहीं जा रहे थे संध्या तो बंधन करने का समय हुआ तो अपनी पोटली उन्होंने अलग रख दी और स्वयं ध्यान करने बैठे आंख बंद की भले पांव का आसन ठीक सिद्धासन बन गया पीठ सीधी सीधी हो गई आंख बंद की बीच में ख्याल आया कि हमारी पोटली है कि कोई उठा नहीं है तो आंख खोल के देखिए फिर आंख बंद किया फिर आप लोग जो बोलने देखी तो उनका मन एकाग्र कैसे होगा आप सोचो वजहात जदा कामान सर्वान पार मनोगता अब उनकी जो इष्ट देवता है पोटली वो तो बाहर है उसमें हजारों रुपये रखे हुए हैं और वो चाहते हैं कि मन जो है किसी के प्यारे आने वाले से वो जाके घर में बैठे फिर आके दरवाजे पर देखें फिर घर में बैठे फिर दरवाजे पर देखें तो मन एकाग्र कैसे तो जरा बाहर की ओर से बुद्धि को हटना चाहिए और भीतर बैठ के भी यदि वो प्यासी प्यासी रहेगी कृष्णा उसमें बनी रहेगी तृप्ति नहीं रहेगी तब भी वो वहां बैठ नहीं सकेगी तो पहली बात बताई कि मन जब एकाग्र करना हो तो बाहर का तो आकर्षण ना हो और भीतर अतृप्ति ना हो आत्मनिर्वात्मना एकता तो एक चाहिए मन की एकाग्रता के लिए बाहरी प्यास और दूसरे चाहिए अंतर का रस तब उसकी एकाग्र होती है